राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम भौगोलिक एकता सांझ हुई घर आए बाबा देखो क्या क्या लाए बाबा लड्डू न पेड़ा मुंह में क्यों है पानी देखो पुस्तक लाए जिसमें लाल परी की नई कहानी हाँ हाँ लाल परी की नई कहानी मुझे लड्डू पेड़ा नहीं लेना मैं तो लाल परी की कहानी पढ़ूंगा मुझे किताब दे दो <laughs> ये लो किताब कितनी प्यारी लाल परी लाल परी भाई लाल परी लाल परी उड़ जाती है देश की सैर कराती है मीठे मीठे गाने गाती बातें करती खरी खरी लाल परी भाई लाल परी कितनी प्यारी परी अच्छा बेटा अब लाल परी को छोड़ रात हो गई है सो जा अच्छा अब मैं सोता हूँ एकदम घुंघरू बाजा सो गए मेरे भरपूर राजा बिस्तर छोड़ छोड़ तेरी खड़ी सामने लाल परी खड़ी सामने लाल परी हाँ लाल परी प्यारे प्यारे लाल परी अरे मैं जाग रहा हूँ या सपना देख रहा हूँ <laughs> मैं सपनों में आती हूँ बच्चों को दूर दूर की सैर कराती हूँ चलेगा सैर करने जल्दी कर हाँ हाँ प्यारी लाल परी मैं सैर करूँगा पूरे देश की सैर करूँगा लाल परी के साथ चलूँगा हम्म। बंगाल की खाड़ी है समुद्र नहीं देख रहे ऊंची ऊंची लहरें मगर यहाँ तो बादल बीच में आ गए कहाँ जा रहे हैं ये बादल ये बादल भारत देश में जा रहे हैं अच्छा हम्म। हमारे देश भारत में जा रहे हैं मुझे भी मेरा देश दिखा दो आओ बादलों के ऊपर उड़े वरना हम भीग जाएंगे ये मानसून के बादल सब जगह जाते हैं वहां जाकर बरसते हैं झील तालाब खेत सब भर जाते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा <laughs> अच्छा अब बादलों के नीचे नीचे उठते हैं हाँ अब दिया दिखाई अरे ये लोग पानी में क्या लगा रहे हैं धान रोप रहे हैं परी रानी यह दूर दूर तक फैली पत्थरों की चट्टाने से क्या है इसके ऊपर सफेद कपास सी पड़ी है ना हाँ मेरे राजा यही तो भारत का पहाड़ी प्रदेश है यही है हिमालय और ये सफेद कपास नहीं बर्फ है बर्फ ये देखो बर्फ पिघल पिघल कर गंगा और यमुना जैसी नदियों में बह रही है अच्छा ये है हमारे देश का हिमालय पहाड़ हम्म, आओ सुने ये हिमालय क्या कहता है मैं हिमालय हूँ पहाड़ बर्फीला मेरा घर है मैं नदियों को पानी देता छूता मुझको अंबर है मेरे कारण ही भारत देश एशिया के अन्य देशों से अलग अलग एक सुगठित भौगोलिक इकाई है मेरे कारण ही सारे देश में मानसूनी जलवायु है मेरे भीतर जल के भंडार हैं। जो उत्तर भारत की नदियों को जल देते हैं क्यों नहीं हम भी हिमालय से ऊंचे बनेंगे हाँ, <laughs> अब आगे, चलो, चलो भारत के मैदानों में देखो वो नहर है हाँ। देखा और उधर देखो वो नाली है और ये जो बादल है ना ये पानी बरसाते हैं अच्छा। और नदियाँ पानी लाती है उधर देखो तो वो नीचे खेतों में धान ले ला रहा है हाँ। दूर दूर तक बड़े बड़े शहर छोटे छोटे गांव बसे हैं मैदानों में अच्छा। देखा ना हम्म। खेत के मैदान हरे खेत और खलिहान भरे पीली पीली सरसों फूली लाल टमाटर सफेद मूली पहाड़ से नदियाँ आती हैं हर प्रदेश में इठलाती हैं बादल शोर के मैदान हरे भारत के मैदान हरे परी रानी हम्म? यहाँ तो प्रदेशों का भेद ही नहीं पता लगता <laughs> सब एक से लगते हैं भारत, भारत की बात ही और है देखो ना, देखो ना। दाल तलैया धान एक से मजदूर और किसान एक से शहर एक से गांव एक से पीपल करते छाव एक से <laughs> हरे भरे मैदान हमारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे आओ अब तुमको दक्षिण में ले चलती हूँ पठार परी रानी हम्म? ये पठार क्या होता है ऊंचा ऊंचा मैदान पथरीला मैदान मगर यहाँ तो बड़े बड़े जंगल हैं, हिरण हैं, मोर हैं, कोयल हैं। ऐसे हिरण हमने मैदान में भी देखे ऐसे शेर देखे ये गुजरात के गिरनार के शेर हैं। अच्छा, अच्छा, वो देखो देखो देखो उधर देखा वो नदियां हैं नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी और इधर यहाँ देखो इधर नीचे ये काजू के पेड़ ये नारियल के पेड़ अच्छे है ना? ना अरे ये लोग भी धान रोप रहे हैं क्या हम फिर लौटकर बंगाल की खाड़ी में आ गए <laughs> यहाँ तो समुद्र की लहरें नजर आ रही हैं और और वो देखो बड़े जहाज भी नहीं नहीं ये है भारत का पश्चिमी तट का बम्बई शहर अच्छा। ये पानी के बहुत बड़े जहाज हैं। यहाँ भी सब लोग दूसरे राज्यों की तरह लगते हैं ना? हाँ हमारे देश के हैं ना हाँ हाँ भारत देश के भेष अलग है काम अलग नहीं है दिल एक है एक से अंदर एक से बाहर एक से अंदर एक से नीर एक से नीर एक से और समंदर एक से से अंदर एक से अरे ये नाव का जमघट और फिर नया शहर फिर समुंदर रानी हम्म? अब हम कहाँ हैं अब हम पूर्वी तट पर हैं ये है मद्रास वाला तट अच्छा यहाँ भी वही पानी के जहाज वैसे ही मछलियों के ढेर अरे हाँ है ना और लोगों की वैसे ही चहल पहल अब तक तुमने देखा कि उत्तरी मैदान अन्न के भंडार है जो सारे देश को खाद्यान्न देते हैं और दक्षिणी भारत खनिज के भंडार है जो सारे देश की औद्योगिक प्रगति के आधार है और दक्षिण भारत के नारियल मसाले आदि उत्तरी भारत में भी उपयोग में आते हैं है ना? हम्म। अब तो देख लिया ना सारा भारत भारत नहीं हमारा देश भारत अपना भारत देश देखा है हम्म। क्या देखा बोलो तो? तो। बादल लेके आते जाते सूखे खेतों में आकर पानी बरसाते इसीलिए तो हर प्रदेश से आती है आवाज भट्टू राजा कैसी रही देश की सैर बहुत बढ़िया सैर भारत देश की हम्म। भट्टू राजा अब आजा बिस्तर पर पकड़ ले तेरी चली लाल परी चली लाल परी सो जा सपनों में खो जा चली लाल परी चली क्या बोल रहा है <laughs> मैं लाल परी नहीं बाबा हूँ चल उठ स्कूल नहीं जाना क्या हाँ, अच्छा तो मैं सपना देख रहा था <laughs> लाल परी ने तो मुझको पूरे भारत के दर्शन करा दिए पूरे देश के दर्शन पूरे देश के दर्शन हाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ सच बाबा सब तरफ जाकर मुझे यही लगा कि दिशाएं चाहे कई हो किंतु हम सब एक हैं। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है हम सब एक हैं। <laughs>